ओम ओम ओम हम बोलते સ્વભાવ નહીં બદલતા તમારો કોઈ સ્વભાવ પડી ગયો છે બદલાતો નથી स्वभाव कोई दाड़े बदलाए नहीं स्वभाव हो तो बदल नहीं सकता अग्नि का स्वभाव उष्ण है वो चाहे ब्राह्मण के घर में हो चाहे चांडाल के घर में हो चाहे हिमालय में हो चाहे मरुभूमि में हो अग्नि का स्वभाव उष्ण है बर्फ का स्वभाव शीतल है जल का स्वभाव द्रीभूत है स्वभाव नहीं बदलता और अगर स्वभाव नहीं बदलता तो फिर उपदेश की मंत्र की अनुष्ठान की या शास्त्रों की आवश्यकता नहीं अगर स्वभाव बदल नहीं सकता तो फिर उपदेश की जरूरत नहीं है शास्त्रों की जरूरत नहीं है आचरण धर्मानुष्ठान की जरूरत नहीं है और जो बदलता वो स्वभाव नहीं होता श्री राम जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता जैसे ब्रह्म का स्वभाव है स्पूर्ण ब्रह्म का स्वभाव है सृष्टि को सत्ता देना अब ब्रह्म का स्वभाव बदलता नहीं है स्वभाव नहीं बदलता जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता है ये बहुत सूक्ष्म बात है ध्यान से आप सुनने की कृपा करना स्वभाव बदलता नहीं है और जो स्वभाव है वो बदला स्वभाव बदलता नहीं और जो बदलता है वो स्वभाव होता नहीं बदलता है विचार बदलती है कल्पनाएं बदलती है मान्यताएं हम बोलते हैं स्वभाव बदल गया श्री राम ध्यान से सुनना बदलती है मान्यताएं बदलती है कल्पनाएं बदलते हैं विचार हम समझते हैं स्वभाव बदला अब इस श्लोक के इर्द गिर्द हम बातें करेंगे मध्य रात्रि को बिल में से चूहा निकला शराबी शराब पीकर कुछ ढोल बैठे थे चूहा निकला और उसने थोड़ी शराब चाट ली नारंगी बारंगी होगी शराब के कई नाम होते हैं नारंगी शब्द श्राप होता है शराब चाट ली और दो पैरों के बल खड़ा हो गए चूहा बोले बुलाओ बिल्ली फिल्ली शेर वेर को कौन होते मेरे सामने आज तक कई हमारे नाती गोतियों को उसने हजम किया लेकिन अब मुझे पता चला बुलाओ बिल्ली कहाँ रहती शेर कहाँ रहते हैं दो पैरों के बल से खड़ा हो गया छोटा छोटा तो उसका मुंह जरा सी उसी मुंह और दोनों हाथों से दोनों मूछों को फरफरा रहा है तो अब चूहा बिल्ली को चैलेंज कर रहा है क्या उसका स्वभाव है उसकी प्रकृति नहीं है लेकिन फिर भी स्व बदला तो स्वभाव नहीं बदला उसकी मान्यता बदली श्री राम मान्यता क्यों बदली कि जरा सी शराब आ गई और अपने को विशेष मानने लगा ऐसे ही हम कई चूहों को जानते हैं कोई बीए पढ़ा चूहा है कोई एमए पढ़ा चूहा है कोई कहीं किसी पद पे पहुंचा हुआ है तो ये धन की पद की सत्ता की शराब पीकर हम आ जाते हैं कि आय आप तो ये उधारी चीजें जैसे चूहा ने शराब चाट ली ऐसे ही हमारे मन ने उधारी बहार की कोई मान्यता चाट कर और अपना मन आ गया कि आप आई एम समथिंग लेकिन जब मौत आती है तो फिर देखो कहा जाता है वो वो स्वभाव नहीं है मैं कुछ हूं ये आपका जो कहना है ना धन को लेकर मैं कुछ बने सत्ता को लेकर मैं कुछ बने सौंदर्य को लेकर आप कुछ बने हैं मित्र और परिवार को लेकर आप कुछ बने हैं तो ये आपका स्वभाव नहीं है नारायण श्री राम कृपानाथ ये कृपा करना आप लोग ये आपका स्वभाव नहीं है ये पराई शराब चाटकर आपके मन की एक वृत्ति है वृत्तियां बदलती रहती है स्वभाव उसका साक्षी है जब डर लगता है तब भी वृत्ति शराब नहीं चाटती लेकिन और कोई कल्पना में फंसी और जब कोई सत्ता का धन दौलत का कोई शराब पी लेते हो तो मौत से तो चूहा बिल्ली बिल्ली से तो चूहा डरता है लेकिन अभी दो पैर पे खड़ा हो गया है लेकिन वो लंबा समय नहीं खड़ा रहेगा क्यों कि बोतल के सहारे है वो ऐसे हम लोग भी जो बोतलों के सहारे खड़े हो जाते हैं ना हम भी जो दो पैर पे के बल पे खड़े हो जाते हैं सीना फूलते हैं ये हम कुछ वस्तुओं को अपने में जोड़कर अपना मन इंद्रियां पदार्थों को देखती है और मन उसके साथ चिपकता है और फिर उसको अपना मानकर और कुछ फूलता है श्री राम आपका स्वभाव है कि इंद्रियां और मन अनुकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं मिश्रित चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं और प्रतिकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं आपका स्वभाव है साक्षी स्वभाव श्री राम कृपानाथ इस बात को आप अपनी बना लीजिए मेरी मत रखिए आपकी बात है ऐसा समझिए श्री राम आपका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा और बदलने की इच्छा भी नहीं करना आज तक जो स्वभाव आप मान बैठे हैं वो आपका स्वभाव नहीं है वो इंद्रियों का स्वभाव है बीड़ी पिए बिना नहीं रह जाता क्योंकि मेरा स्वभाव पड़ गया लेकिन फिर उन आदमियों ने बीड़ी छोड़ी दारू बिना भोजन न मिले तो न मिले लेकिन बोतल मिले ऐसे आदमियों ने दारू छोड़ दिया झगड़ा छोड़ दिया वालिया लुटारा जैसा आदमी बोले स्वभाव बदल गया स्वभाव नहीं बदला उसके मन की वृत्तियां बदली उसके इंद्रियों की दिशा बदली उसके बुद्धि के निर्णय बदले वो तो वही का वही था श्री राम तो यहां आज के श्लोक से हम इतना जरूर समझेंगे कि जैसे दरिया के किनारे आप खड़े हैं तमाम लहरियां उठ उठ कर लीन हो रही है आपको कोई आपत्ति नहीं लहरियां उठने का मजा ले सकते हैं ठंडी हवाओं की खबरें सुन सकते लेकिन अगर दरिया में अपने आप को आपने उछेल दिया फिर लहरियों की थप्पड़े आपको परेशान करती श्री राम वो लहरियां तब तक आपके लिए दुखदाई नहीं है जब तक अपने आप को आपने दरिया के हवाले नहीं किया जो दरिया में प्रवेश किया तो वो जो सुंदर थी सुखद थी ठंडी खबरें देने वाली लहरियां थी वही आपको छिन्न भिन्न करने में काम आएगी ऐसे ही इंद्रियों की या चित्त की जो लहरियां है उसको आप किनारे होकर दृष्टा होकर देखें तो संसार में हंसने का मजा है रोने का मजा है नरोवा कुंजरोवा कहने का मजा है मक्खन चुराने का मजा है चुटला ताड़ने का मजा है बंसी बजाने का मजा है पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं अगर तरंगों से थोड़ा अलग होकर आप कृपानाथ थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए अगर आप सागर की तरंगों से पृथक होकर तरंगों का मजा लेते हैं तो आप हैं कृष्ण श्री राम आप हैं क्राइस्ट आप हैं बुद्ध आप हैं नानक आप हैं कबीर अगर आप उन तरंगों में घुस जाते मजा लेने के लिए किनारे खड़ा रह के मजा नहीं लेते मजा आया तो एकदम उनको बात भिड़ा के अंदर जाते हैं वो तो मजा तो मजा गया फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है श्री राम ऐसे ही मन और इंद्रियों के तरंगों को देखकर अपने स्वभाव में आप खड़े हैं तो ठीक है लेकिन आप अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं आप अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और पर स्वभाव को अपने ऊपर हावी कर देते श्री राम आप अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं और पर स्वभाव को हावी कर देते हैं कैसे जैसे महाराज आप बैठे हैं सड़क के किनारे आपका फर्स्ट क्लास बंगला है निकली गाड़ियां निकली बरात आप देख के खुश हो रहे हैं निकले स्कूटर निकली मोटरें आप देखने वाले मजा ले रहे हैं एक दिन बढ़िया बरात निकले और मोटर गाड़ी निकले और दूसरे दिन किसी की आखिरी बारात निकले और बैलगाड़ियां निकले अब मोटर गाड़ियां देखकर आप खुश होकर उनमें चल बसे और बारात आए तो उसके साथ चल दे अथवा अर्थी आ जाए तो उसके साथ चिपक के और लकड़ों में अपने को उलझा दे तो आप जुड़ गए उस दृश्य के साथ श्री राम अगर आप अपने घर में हैं और आपको इतनी समझ है कि रास्ता है सड़क है यहां से सब पसार होने वाला है बारात भी पसार होती है अर्थी भी पसार होती है कार भी पसार होती है बस भी पसार होती है स्कूटर भी पसार होती है बैलगाड़ियां भी पसार होती है ऑटो रिक्शा भी पसार होती है पैदल वाले भी पसार होते हैं कोई सज्जन भी पसार होते हैं कभी दुर्जन भी पसार होते हैं क्योंकि ये सड़क है श्री राम अब अच्छे आदमी पसार हो तो आप थोड़ी देर के लिए हाँ धन्यवाद हाँ ठीक है तो एक अच्छे पसार हुए तो अपने को अच्छा मानने लगे और डाकू पसार हुए तो अपने को डाकू मानने लगे और मुर्दा पसार हुआ तो अपने को मुर्दा मानने लगे और वर राजा पसार हुआ तो साठ वर्ष का डोहा अपने को वर राजा मानने लग जाए तो उस आदमी ऊपर जैसे आपको हंसी आती है कृपानाथ ऐसे ही ज्ञानवानों को तुम्हारे पर हंसी आती है यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यस सदा मुक्त एवं सह जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है जीती हुई का मतलब यह नहीं कि तरंग उठे नहीं मन से संकल्प हो नहीं अथवा इंद्रियों से कोई उपयोग न करें इंद्रियों का उपयोग तो करें अब एक बात फिर समझें आप रूम में बैठे हैं और अंदर से कड़ी लगा दी आप भले चार घंटे बैठे रहें आप स्वतंत्र है आपको दुख नहीं है आप रूम में गए और किसी ने कुंडा लगा दिया बाहर से ऑलड्राफ लगा दिया कड़ा लगा दिया भले थोड़ी देर के लिए लगाया लेकिन किसी ने लगाया तो आप पराधीन हो गए और आपने लगाया है तो आप स्वाधीन हैं श्री राम ऐसे ही अपनी सत्ता में रहकर आप युद्ध करते हैं भोग भोगते हैं बच्चे को जन्म देते हैं इन इंद्रियों का आप उपयोग करते हैं तो आप रूम में अपनी सत्ता से बैठे आप अपनी मौज से क्रिकेट खेलते हैं या बाजार में धंधा करते हैं उसका अलग स्वाद है और वेट कोई करा दे उतने काम की तो अलग बात है ऐसे इंद्रियों के और जगत को सत्य मानकर मन को बहाव में बह जाना ये पशुता है और इंद्रियों को मन को उचित जगह पर स्टेरिंग को उचित जगह पर घुमाते रहना और अपनी यात्रा जीवन के करना ये वांछनीय है श्री राम ऐसा नहीं है कि आप भोग भोगते हैं और ज्ञानवान कुछ नहीं करते होंगे अरे तुमने जो सुख लिया ना वो तो तुम्हारा तो सुख कुछ नहीं ज्ञानी को तो ऐसे ऐसे सुख के प्रलोभन आते हैं कि उसके आगे आपका तो कुछ नहीं है अपने लोगों को संसारी लोगों को तो जो पत्नी जो स्त्री लड़ती है नाक सुकोड़ती है बगासा खाती है पसीना निकलता है झुरियां पड़ जाती है ऐसे भोगों से अपन लोग आकर्षित हो जाते ज्ञानवान के आगे योगी के आगे तो अपसनाएं आती है जो कभी बगासा नहीं खाती पसीना नहीं होता झुरिया नहीं पड़ती और भी क्या क्या उनमें वो होता है तो ये चीजें उन लोगों के शरणागत हो जाती है और हम लोग तुच्छ चीजों के शरणागत हो जाते हैं श्री राम आप संसार के भोग नहीं चाहेंगे तो संसार के भोग आपके चरणों में आएंगे उनका भी अनादर कर देंगे अपने स्वरूप में मस्त रहेंगे तो देव देव योनि के भोग भी आपके आ हो नछावर अगर उनकी भी परवाह नहीं करेंगे तो ईश्वर स्वयं आ जाएगा ईश्वर आ जाएगा ये लौकिक भाषा में कहना पड़ता है ईश्वर कभी गया ही नहीं तो आएगा क्या अर्थात अपने ईश्वरत्व का आपको बोध हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा जिस चीज का बोध नहीं है वो चीज होते हुए भी नहीं है और जिस चीज का पता चल गया उसके होने का फायदा है ईश्वर सदियों से आपके साथ है लेकिन ज्ञान नहीं है इसीलिए सदियों से परमात्मा आपके साथ है अज्ञानी से अज्ञानी मूड से मूड अनजान से अनजान व्यक्ति का भगवान उतना ही है उसके पास जितना बुद्ध के पास है सदियों से आप नहीं जानते तब भी, भी परमात्मा तुम्हारा है और युगों से जगत को पकड़ते आए तभी भी जगत की चीज तुम्हारी नहीं जगत की चीज भी तुम्हारी नहीं है तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है शरीर में रहने वाली इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है मन भी तुम्हारा नहीं है बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है ये प्रकृति की चीजें और ये प्रकृति की चीजें उसलिए बदलती रहती है श्री राम प्रकृति में परिवर्तन है तो ये चीजें बदलती रहती फिर बदलने की स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो लेकिन बदलती जरूर है जो बचपन में आंखें थी जो जवानी में आंखों का रोशनी था तेज था वो बुढ़ापे में नहीं रहता जो बचपन में इंद्रियों की चंचलता थी और जवानियों में इंद्रियों के जो विकार थे वो बुढ़ापे में नहीं रहता लेकिन तृष्णा बुढ़ापे में जो बढ़ती है वो बचपन में नहीं थी श्री राम वासनाएं और चिकास जो बढ़ जाती है बुद्धि और मन में वो बचपन में नहीं होती वो जवानी में नहीं होती गिरनार की कथा सुना दूं एक कोई योगिनी थी किसी योगी की सेवा की बाद में वो योगिनी बन गई थी भीलण किसी संत की सेवा की मदोगिरी करके आती थी और बाबा जी को भोजन बना के खिलाते थे बाबा जी की साधना में विघ्न ना आए वो खूब खबरदारी रखती थी बारह साल बाबा ने योग किया मन और इंद्रियों को रोकने से सामर्थ्य आता है तत्व ज्ञान और चीज है श्री राम सामर्थ्य चाहिए तो आप मन इंद्रियों को रोको तो आपकी वाणी में शक्ति आ जाएगी आपके संकल्प में पावर आ जाएगा बहुत बहुत पावर आएगा जितना जितने अंश में आप एकाग्र होते हैं उतने अंश में पावर आएगा आप नई सृष्टि बना सकते हैं इतना पावर आपके पास सूक्ष्म रूप में बीज रूप में पड़ा है श्री राम उस योगी की सेवा भी लड़ने की बारह वर्ष पूरे हुए योगी का योग फला रामायण में भी एक कथा आती है कि जब हनुमान जी और सुग्रीव सीता जी को खोजने गए तो भूख और प्यास से व्याकुल हुए हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए नजर डाली किसी गुफा में पक्षी आते जाते हैं पक्षियों की आन जान देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि वहां पानी जरूर होगा सब लोग वहां पहुंचे तो स्वयं प्रभा नाम की योगिनी बैठी थी और उसने कहा कि अच्छा आप राम के दूत हो माता जी आपको कैसे पता चला कि मेरे को कहा गया था कि राम के दूत जब सीता जी की खोज करते करते तुम्हारी गुफा पे पहुंचेंगे तब समझ लेना कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई तो आज मुझे लगता है कि अब मेरी तपस्या मेरी साधना पूरी हो गई और सीता जी को आंख खोलकर खोजते हो कि आंख बंद करके खोजते हो अंगत को क्रोध आ गया कि ये क्या हमारी मस्करी कर स्वयं प्रभा ने कहा अंगत गुस्सा मत करो मैं सही कहती हूं सीता को खोजना है तो आंख खोलकर नहीं खोजना आंख बंद करके खोजना अब सीता का मतलब ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या को खोजना है तो मन से इंद्रियों से इंद्रियों को रोकना है मन को अंतर्मुख करना है तब ब्रह्म विद्या की यात्रा होती अच्छा तो सीता इधर उधर अंगव गोत्रों में नहीं है वो कहा है तो है समुद्र पार समुद्र तक तुम नहीं जा पाओगे तुम आंख पूरो मैं तुमको वहां पहुंचा देती हूं तो स्वयं प्रभा लड़की में इतना प्रभाव था कि हनुमान जी जैसे को वो सहयोगी हो गई अंगद जैसे को जो भगवान के दूत हैं भगवान के आशीर्वाद लेके आए उनको भी उन पर भी कृपा करने का सामर्थ्य उस लड़की में था आंखें बंद कराए और ठांडे सकल सिंधु के तीरा रामायण में आता है सब सिंधु के तीर पहुंच गए और फिर संपाति गीत खाने को आया ये बात रामायण का प्रसंग चल जाता है तो मानना पड़ेगा कि योग में शक्ति है सामर्थ्य ऐसे ही उस गिरनार के योगी में शक्ति थी वो जब अपनी सिद्धाई का अनुभव करके वो जगह छोड़ के जा रहा था तो महिला ने उस भीलण ने प्रणाम करके कहा कि गुरु महाराज आप बाढ़ की मौतें दिया करो कि बच्चे के ऊपर भी दया करो बोले क्या चाहिए कि बस जो आपको अच्छा लगे अच्छा तो योग है मजे की बात है जिस आदमी को जो चीज अच्छी लगती है वो दूसरे को वही चीज देना चाहता है प्रेम में आकर आपके घर लड़की जब आती है ना तो वही मिठाई दोगे जो आपको रुचिकर है वैसे ही गहने पसंद करोगे वैसा ही कपड़ा पसंद करोगे जो आपको रुचिकर है मेहमान को भी वही चीज दोगे जो आपको रुचिकर है प्राय ऐसा होता है श्री राम तो योगी को योग रुचिकर होता है भक्त को भक्ति रुचिकर होता है और ज्ञानी को योग भक्ति और कर्म जिस परमात्मा की सत्ता से सिद्ध होते हैं वो परमात्मा ज्ञान ज्ञानी को रुचकर होता है श्री राम वो तो योगी थे तत्व ज्ञान तो था नहीं अच्छा बोले जा मेरे सेवा क्या है योग बता देता हूं ऐसा करेगी तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी जा। गाय को जितना दूध बनाने में परिश्रम पड़ता है ना उतना बछड़े को दूध पीने में परिश्रम नहीं होता है उसको तैयार मिलता है ऐसे वो योगी को सिद्ध होने में मेहनत लगी लेकिन अब इसके संकल्प के बल से भीलन सिद्धि के तरफ एकदम सपाटे बन गई जल्दी गई और जो चीज बिना आयास के मिल जाती है उसकी बहुमूल्यता का पता नहीं चलता है श्री राम योग वशिष्ठ में कथा आती है कि ब्राह्मण चिंतामणि खोजने को निकला थोड़े से आयास से उसको चिंतामणि मिल गई तो उस मूर्ख ने सोचा कि ये चिंतामणि कैसे हो सकती है फेंक दी फिर वर्षों तक खान में परिश्रम किया तब एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा उसको मिला और वो घर ले आया चिंतामणि समझ के घर में जो कुछ था उसका भी उसने खुशी खुशी में भंडारा कर दिया और चिंतामणि के आगे चिंतन करने लगा अब ये दो ये दो तो तो ढपोल संख कुछ मिले नहीं तो हे राम जी तुम भी ऐसे नहीं करना ये तत्व ज्ञान बिना आयास के मैं तुम्हें प्रदान करता हूं तो तुम भी उस ब्राह्मण मूर्ख की नाई इसका अनादर मत करना ऐसा कहकर फिर वशिष्ठ जी तत्व ज्ञान का अमृत पान कराते श्री राम योगी ने नहीं कहा होगा योगिनी को योगी ने सिखाया और अपनी संप्रेक्षण शक्ति बरसा दी जैसे गुरु महाराज ध्यान लगाते थे पद्मासन पे बैठते थे एकाग्र दृष्टि रखते थे अब साइंस के दृष्टि से देखा जाए कि भ्रूमध्य आंख रखने से 45 का काटखुण बनता है इससे चित्त की वृत्तियां उठना कम होती है मुंह बंद करके जिह्वा को न ऊपर न नीचे बीच में ठहरा दे और उसकी निगरानी रखने से भी मन उसमें स्थिर होता है अमुक शरीर में ऐसी नाड़ियां हैं उनको स्पर्श करके बैठे रहने से भी चंचलता कम होती है अमुक कुछ ऐसे आसन हैं जिससे काम विकार आदि कंट्रोल में आते हैं ऐसे भी आसन और जप है युक्ति से मुक्ति होती है जैसे कुंजी ठीक हो तो ताला फट से खुले नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे अंदर भी खजाना है कौन सा खजाना खोलना है उस प्रकार की कुंजी जो गुरु जानते हैं उस कुंजी को शिष्य को दे दे और शिष्य उसको ठीक अजमावे तो उसको खजाना मिल जाता है श्री राम इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है तभी नानक ने कहा संत जनामिल हर जस गाये अम्बे मात की जय करके यहाँ से अंबाजी गए अंबाजी से फिर क्या किया कि बीड़ी फूके और मेला में घूम के आए क्या क्या कि जान दर्शन कर आया जय श्री कृष्ण ये मनमुक्ता से जान नहीं जाने की अपेक्षा जाने वालों को धन्यवाद लेकिन गए तो अपने मन के चक्कर में रहते रहते गए और रहते रहते आए श्री राम तो गुरु महाराज ने कोई कुंजी दे दी अब वो ध्यान करने लगी तो इंद्रियां उसकी वश होने लगी अब इंद्रियां वश होती है ना मन भी वश होता है मन वश होता है तो इंद्रियां वश होती है अरस परस मिले हुए महाराज फिर भूख तो लगती है जब उठता आदमी तो भिक्षा करने को जाते थे कुछ दिन बीते तो इसके मन में लगा कि भिक्षा करने को मेरे को अब जाने की क्या जरूरत है अब तो और आप भी साधना करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जो चाहेंगे संकल्प ऐसा हो जाएगा आपका रणकार कभी कभी आपको आता है आप जब ऑफिस जाते हैं या कोई टिकट लेने जाते हैं कोई काम में जाते हैं तो अंदर का रणकार हकारात्मक होता है और बाहर की परिस्थिति नकारात्मक होती है तभी भी हकार हो जाता है और बाहर की परिस्थिति हकारात्मक दिखती है और अंदर से नकारा होता है तो आप देखते हैं कि नकारात्मक हो जाता है ये आप अगर निगरानी रखें अपने व्यवहार में तभी भी ये आंतरिक जगत का प्रभाव बाह्य जगत पर पड़ता है श्री राम बाह्य जगत परछाई मात्र है पहले आदमी भीतर गिरता है तब बाहर गिरता है और पहले आदमी भीतर उठता है तब बाहर उठता है महात्मा लोग पूजे जाते वंदनी हो जाते वो ऊपर भीतर से ऊपर उठे हैं उसीलिए कैसी भी परिस्थिति में चले जाते तो उनके लिए वातावरण अनुकूल हो जाता है और प्रतिकूल हो तो भीतर से गिरते नहीं तब तक वो प्रतिकूलता उन पर असर नहीं करती श्री राम आदमी पहले भीतर गिरता है बाद में बाहर गिरता है पहले भीतर से उठता है फिर बाहर से उठता है श्री राम इसको योग करते करते इंद्रिय और मन को संयत करते करते इसकी बुद्धि वृत्ति में आया कि अब रोज भिक्षा मांगू या दो चार दिन में जब आटा दाल खत्म हो जाए तो भिक्षा मांगने को जाऊं आऊं समय खराब होता है चलो योग का उपयोग करो जो झोली झंडा डंडा था उस डंडे को संकल्प करके खड़ा कर दिया मान लो ये डंडा है और यूं उसको खड़ा कर दिया ये डंडा है यूं खड़ा कर दिया आड़ा अपना झोला उसमें टिंगा दिया और संकल्प किया कि जा जिन घरों में मैं भिक्षा मांगती हूँ वहां से भिक्षा ले आओ तो वो डंडा चला झोला लटका, लटकाता हुआ योगिनी को वह कह रहा है जब महाराज वो डंडे में झोला लटका और भिक्षा जिन घरों में मांगती उन घरों में वो पहुंचा तो ये तो योगिनी का माता जी का लोगों ने तो प्रणाम किए अद्भुत अद्भुत अद्भुत आश्चर्य भिक्षा डाली और डंडा चला गिरनार की गुफा में बात फैल गई बिजली की तरह और राजा के कानों तक बात पहुंची राजा ने देखा कि इतनी समर्थ योगी नहीं अब उसको पता नहीं इसके गुरुओं के गुरु कई चले गए साधना करके किसी को भार तक नहीं दी अधूरा घड़ा खूब छलका है और समाज का बड़े में बड़ा ये दोष है कि समाज एडवर्टाइज का इतना आजकल तो अखबार और टीवी समाज का गुरु हो गया किसी हल्के से हल्के आदमी की टीवी में और अखबार में प्रशंसा हो जाए कहीं पहुंच जाएगा और बड़े से बड़े किसी संत पुरुष को अगर टीवी और अखबार पीछे पड़े आदू खा के तो लोग पत्थरबाजी करने लगेंगे उस संत पर इतने अखबारों ने और टीवियों ने लोगों का माइंड मचल के जेब में रख दिया मैं सत्य कहता हूं श्री राम अच्छे से अच्छे विनोबा जी को लाओ गांधी जी को लाओ अगर कुप्रचार डट के करो तो अभी गांधी जी के ऊपर जो लोग फूल चढ़ाते ना कुछ का कुछ करने लगे तो आदमी की अपनी आप अपना उपला माल यूज नहीं करते जो भी आए भाड़े ले ले चाहे फ्री वापरे लेकिन रोटी अपनी खाते माल दूसरे लोग वापरते उनका आज के मानवी की हालत है मैं सही कह रहा हूं आदमी का इतना अपनी बुद्धि पर अपने मन पर इतना विकास नहीं अपनी बुद्धि का कि क्या सत्य है क्या सही है क्या गलत है बस प्रचार के शिकार बन जाते वो राजा साहब लोगों की नजर में राजा बहुत ऊंचा है लेकिन जिसने मन बुद्धि को इंद्रियों को जीता नहीं वो भले राजा के तख्त पे वो भी प्रचार का शिकार हो जाता है कुप्रचार का भी शिकार हो जाएगा सुप्रचार का भी महाराज उसका प्रचार हुआ तो माई हो राजा के हृदय में श्रद्धा आ गई धार्मिक तो था थोड़ा बहुत ओ माता जी माता जी अब राजा को तत्व ज्ञान तो था नहीं बाहर का थोड़ा सा वो चमत्कार देखकर राजा उसका शिष्य बन गया और उसको इनवाइट किया और शिष्य बन गया तो शिष्य का तो स्वभाव होता है जिसके आप शिष्य बनते उसके लिए आपके हृदय में पूज्य बुद्धि होती है पवित्र है महान है ऐसी आपकी बुद्धि होती है तो उसके सदगुण अपने आए अपने घर में आए तो राजा ने आराधना की कि माँ हम कुछ भी हो जाए मेरे राज दरबार में आपकी पधरामणी होनी चाहिए आज भी लोग करते हैं गुरुओं की पधरामणी गुरुओं की पधरामणी करना तो दशरथ राजा ने भी की भगवान राम ने भी की करने की मनाही नहीं है लेकिन गुरु कैसे हैं वो जरा समझना पड़ेगा श्री राम गुरु गीता में गुरुओं की व्याख्या दी है कोई वर्ण के अक्षर समझाने वाले गुरु होते हैं कोई कुल के गुरु हो, कुल गुरु होते हैं कोई भूत प्रेत विद्या वाले निषिद्ध गुरु होते हैं कोई शास्त्र ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं कोई सूचक गुरु होते हैं इन सब से आखिरी गुरु होता है सतगुरु जो आत्मा ब्रह्म रूप है अद्वैत का बोध करा के मन इंद्रिय और बुद्धि का साक्षी स्वरूप में स्थिर कर दे उनको हम सदगुरु कहते हैं श्री राम अब वो भीलन सदगुरु तो थी नहीं वो थी कुछ योग की सिद्धियां मन इंद्रियों को वश किया तो योग की सिद्धियों तक पहुंची थी मन इंद्रियों से पार नहीं गई थी ध्यान देना मन इंद्रियां और बुद्धि को एकाग्र करके सामर्थ्य पाना एक बात है लेकिन मन बुद्धि और इंद्रियों को एकाग्र करके छलांग मार के अपने स्वरूप में जग जाना अपने स्वभाव को पहचान लेना वो दूसरी बात है श्री राम ध्यान देना मन इंद्रियां और बुद्धि को एकाग्र करके सामर्थ्य पाना एक बात है लेकिन मन बुद्धि और इंद्रियों को एकाग्र करके छलांग मार के अपने स्वरूप में जग जाना अपने स्वभाव को पहचान लेना वो दूसरी बात है श्री राम महाराज राजा शिष्य हो गया आमंत्रित किया और योगिनी को हुआ कि अब जैसे मैंने कथा में सुना कि गार्गी जनक की दरबार में दिगंबर गई थी निर्वस्त्र होकर पंडितों ने नाक सकोड़ा था और गार्गी ने कहा कि अपना स्वामी मैं आप हूं मेरा रक्षक आप हूं क्योंकि मैं ब्रह्म रूप हूं ये देह रूपी तिनखा मैं नहीं हूं ऐसा करके उपदेश दिया था और गार्गी की अमर कहानी रह गई ऐसा मैं भी अब राजा शिष्य बन गया तो खाली गार्गी का वेश लेकर जाऊं मेरी भी कीर्ति अमर हो जाएगी श्री राम अब गिरी नीचे से भीतर से गिरी ज्ञान की अपूर्णता वो दिगंबर गई निर्वस्त्र गई एकदम नंगी स्वागत करने वालों ने तो स्वागत किया जय करने वालों ने तो जय किया क्योंकि तो माँ है बच्चों के आगे माँ कभी बाथरूम में भी बच्चों को स्नान करती है माँ भी करती है बच्चे भी करते कोई बात नहीं तो माँ है लेकिन जो विदुषी थी किसी वजीर की पत्नी उसने देखा कि भले ये माँ है योगिनी है भगवती है जब समाज में आती है तो बड़े बड़े अच्छे संत जो कोपिन पैरते हैं उन संतों को भी चादर ओढ़ लेनी पड़ती तो ये स्त्री होकर एकदम सारा शरीर दिगंबर ये और फिर धर्म के स्थान पर और दूसरी बात स्त्री गुरु हो नहीं सकती स्त्री पुरुषों की गुरु नहीं हो सकती क्योंकि उसको तो पीरियड में आना है ये होना है वो होना है नहीं हो सकती तो राजा साहब अगर राजा की बुद्धि मलिन होगी तो प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा वो विदुषी ब्राह्मणी थी किसी वजीर की पत्नी उसका खून उबलने लगा शाम को जाकर वजीर को समझाया कि कुछ भी हो और ये आप तूत हटाओ बोले तूत क्या हटाना मैं अगर राजा साहब को बोलूंगा कि स्त्री को ऐसा नहीं मानो ऐसा आदर मत करो तो राजा साहब मेरे को घर बिठा देंगे या तो जेल में बिठा देंगे और ज्यादा आग्रह किया तो तेरा सुहाग भी खत्म हो जाएगा राजा की इतनी श्रद्धा है लेकिन इसको बिचारी को नींद नहीं आए पति सो गया इसकी बेचैनी बढ़ गई अपने सिद्धांतों के पीछे मर जाना की अपेक्षा जीवित होकर अपने सिद्धांतों को सही साबित करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है श्री राम सिद्धांतों को बदल देना सिद्धांतों से परिस्थितियों से कायरता करके सिद्धांत के विरुद्ध घूंट पी लेना ये कायरों का काम है सिद्धांत तो नहीं सिद्ध होते तो मर जाना ये ठीक ठीक व्यक्तियों का काम है लेकिन सिद्धांत को जीवित होकर सिद्ध कर देना ये कोई मर्द वो स्त्री ऐसी मर्द थी रात्रि के 11 बजे नींद नहीं आई साढ़े ग्यारह बजे नींद नहीं आई 12 के टकोरे पड़े तब भी नींद आई नींद नहीं आई वो स्त्री पति को सोता हुआ छोड़कर पति का जो खंजर था वो उठाया और अपने में रखा बगल में आओ चली गिरनार कोई संत था उसकी दृष्टि में उसका जाके एक दरवाजा खटखटाया तो महाराज ने कहा अभी मध्य रात्रि को रात के एक दो बजे कौन बोले मैं फलानी महिला हूं तो इस समय कैसे आई अबला स्त्री बोले महाराज मैं रक, अपना रक्षक आप ले आई हूं मेरे शील की रक्षा करने के लिए मैं पति का हथियार ले आई हूं लेकिन अभी क्यों आई बेटी महाराज वो जो योगिनी रहती है ना वो नंगी आई थी आज और मेरा बस नींद नहीं आती मेरा खून उबल रहा है ये नंगी ना आए कपड़े पहर के आए राजा इसका शिष्य बन जाए पुत्र बन जाए सारी दुनिया इसकी शिष्य बन जाए मेरा उससे विरोध नहीं लेकिन धर्म की हानि हो रही धर्म के लिए तो लोगों ने प्राण तक दे दिए महाराज कृपा करके धर्म विरुद्ध जो चेष्टा हो रही है इसको थामना है तो आखिर तो क्या चाहती कि बस ये कपड़ा पहन के आए बस ने कपड़ा पहरे એટલું જ ને કે હા કે જા कपड़ा પહેરશે तू जा मिसिस वजीर को रवाना कर दिया और वो संत ने अपना खास जो शिष्य था कोई गुफा में भजन कर रहा था अगले जन्म में मनुष्य रहा होगा कोई गलती हो गई होगी वो भूत होके भटकता था और गुरु के चरण में आया तो उसका नाम गुरु ने रखा बेटा गंगाराम बेटा गंगाराम गुरु हाजिर संतों की बात भूत भी मानते हैं प्रेत भी मानते हैं राक्षस भी मानते हैं मनुष्य भी मानते हैं देवता भी मानते हैं क्योंकि जिन्होंने पांच इंद्रिय वश की उनको पांचों लोग मानते क्या बात है बेटा गंगाराम जी गुरु बीते देख वो योगिनी है ना उसके पेट में घुस जा और सुबह सुबह वो आठ नौ महीने का बच्चा अंदर घूम रहा है ऐसा उसको महसूस करा दे और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक बाहर मत आना वो तो योगिनी के श्वासोश्वास द्वारा प्रेत जो होते हैं ना अंतवाक्षर से घुस गया महाराज सुबह होते होते तो होम डिलीवरी घर बैठे बस गुफा में ही अब वो तो पहले तो उसने बच्चे को जन्म दिया था उसको तो एक्सपीरियंस था कि ये क्या हो गया कि बस अब तो परेशान चिंतित क्या ये हुआ कैसे और न ध्यान लगे न चिंतन लगे न आसन हो न प्राणायाम हो अब तो आ कीको क्यों थी बैठो उसके चिंतन चिंतन में वो नाराज और अशांत रहने लगी अगर राजा का कोई आदमी भी आ गया और देखा कि माता जी ने आऊ थो तो मारी तो दशा शू थी जो यश लेकर सुखी होता है वो अपयश से बहुत डरता है जो जो धन को धन से अपने को जैसे वो चूहा ने शराब लेके पहलवान हो गया तो कितनी देर ऐसे ही बाहर की परिस्थितियां जो अपने में थोप कर सुखी होना चाहता है उसके सुख में इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती रहती चाहे फिर सत्ता का हो धन का हो सौंदर्य का हो गहनों का हो गहने पैर के अगर सुखी होते तो कोई छीन न ले अथवा गहने चले न जाए वो भय रहता है ईश्वर के सुख के बिना आरोपित सुख जो भी लोगे उसको प्राप्त करने में परिश्रम भोगते समय भय और जाने के बाद विषाद होता है श्री राम कितना सत्य है ईश्वरीय सुख के बिना आत्म परमात्मा के सुख के बिना जो भी आप सुख लेंगे उस सुख को लेने में परिश्रम होगा भोगने में भय होगा और नाश में विषाद होगा और नाश जरूर होगा श्री राम रूप डिसी मगरूर न थी एडो हुस्न ते नाज न कर रूप सबई रावल ते रूप है तो मगरूर मत हो हुसन पर नाज मत करो झुरिया आने को है श्री राम धन है तो इनकम टैक्स की भय रहेगा सौंदर्य है तो बुढ़ापे का भय रहेगा सत्ता है तो पांच वर्ष के भीतर ही भीतर हिल जाए अथवा पांच वर्ष पूरा होते हिल जाए अथवा ચાલુ પાંચ વર્ષ में કેટલા ફેંકાઈ ગયા કેટલા લેવાઈ ગયા આવે છે ને કેન્દ્રનું બધું લોકો કહે છે મને શ્રી રામ કેન્દ્રના છ મિનિસ્ટરો ફેંકાઈ ગયા એવું કોઈએ મને કહ્યું तो जब केंद्र की कुर्सी मिली होगी तो जो सुख मिला होगा फेंकाते समय उससे ज्यादा दुख होता होगा श्री राम ईश्वरीय सुख के बिना आत्मा परमात्मा के सुख के बिना जो भी सुख है वो चूहे की शराब जैसा है श्री राम चाहे फिर वो डेरी का सुख हो डेरे का सुख हो ये मठ मंदिर डेरा उसका सुख हो हम्म, हम्म। लेकिन समाज की बड़ी कमजोरी यह है कि जिस महात्मा का डेरा बड़ा जिसके शिष्य बड़े वो महात्मा बड़ा <laughs> ऐसा नहीं है सत्य के आगे ये चीजें मूल्य नहीं रखती हम तो वही के वही थे लेकिन जब ये आर्च बनी और अमेरिका जाके आए तो अब हम बड़े हो गए राम राम राम इन तुच्छ चीजों के कारण हमारा मूल्य बढ़ा और ये तुच्छ चीजें चली जाए तो हमारा मूल्य घटे हमारा मूल्य तो वही था जो पहले था अब भी और बाद में रहेगा वो हम आत्मा है ऐसा महात्माओं को अनुभव होता है चाहे लोग पूजा करे सुवर्ण के बर्तनों में खिलाएं और बखमल बिछा दें पुष्प बिछा दें तभी भी महात्मा वहीं का वहीं होता और चाहे लोग जुतियां उछाल दें और दुनिया भर का अपमान कर दे तभी भी सच्चा महात्मा तो वहीं का वहीं होता जहां उसको होना चाहिए श्री राम हम लोग क्या है कि हम लोग परिस्थितियों में होते ना उसीलिए परिस्थितियां हमको दबा देती है तो आप इंद्रियों में न रहिए अनदाता मन में मत रहिए बुद्धि में मत रहिए लेकिन इंद्रियों को मन को और बुद्धि को जो सत्ता देता है वो तुम्हारा असली स्वभाव है आप अपने आप में रहिए श्री राम अब योगिनी को तो शायद मोटेरा में नहीं मिला होगा सत्संग लीलासा बापू तो नहीं मिले होंगे योगिनी दुखी हो गई दुखी हो गई तो उस योगी ने गंगाराम के गुरु ने जरा देखा कि योगिनी की क्या मानसिक स्थिति है बोले बेचैन है विक्षिप्त है और विक्षिप्त आदमी चित्त की पांच दशाएं होती है क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध और एकाग्र ये पांच अवस्थाएं चित्त की होती है और सब उसी अवस्थाओं में जी रहे हैं योगी निरुद्ध में पहुंचा है बाकी के लोग क्षिप्त विक्षिप्त में जी रहे हैं कभी आप विक्षिप्त हैं कभी क्षिप्त हैं कभी मूढ़ता में बैठे हैं सो गए तो मूढ़ता में आ गया चित्त तीन अवस्था में प्राय जर्नल लोग होते हैं चौथी और पांचवी अवस्था में साधक और सिद्ध लोग होते हैं श्री राम लेकिन ये अवस्था है स्वभाव नहीं ध्यान देना अवस्था चित्त की होती है अवस्था मन की होती है अवस्था बुद्धि की होती है अवस्था शरीर की होती है परमात्मा की कोई अवस्था नहीं परमात्मा परमात्मा ही है श्री राम तो गुरु जी ध्यान नहीं लगता गुरु जी जप नहीं होता तो ये चित्त की अवस्था है और जप होता है ध्यान होता है तो जप ध्यान हुआ तो खुश नहीं हुआ तो दुखी तो दुख दुख को भी तुम जान रहे हो दुख को जानकर दुख से पृथक हो जाओ ओहो मौका मिल गया दुख को धन्यवाद जप न होने को भी धन्यवाद तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी क्या प्यार फूल और कांटे अर्थात सुख और दुख ये आ रहे हैं और जा रहे हैं उसको मैं देख रहा हूं ऐसा करके अपने स्वभाव में आ जाए ये पर स्वभाव है स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह ये इंद्रियों का मन का ये पर धर्म है उसमें मिलना भय वाला है और अपने स्वरूप में मर जाना भी तो अच्छा है स्वधर्म में मर जाना भी अच्छा है महाराज वो विकसित तो कौन योगी ने वजीर ने महात्मा ने मिसिस वजीर को आदमी भेजा के दो पांच गुप्तचर भेज दे ये योगी ने कहीं आप आप घात न कर ले अहम घात करना कठिन है आप घात करना आसान है आप घात में आवेश चाहिए और अहम घात में साधना और समझ चाहिए श्री राम आप घात में आवेश चाहिए पांच दस मिनट आप घात कर लेगा और अहम घात में खंत पूर्वक उत्साह पूर्वक की साधना चाहिए तभी अहम घात होता है ये अहम घात करा नहीं तो फिर खून के आंसू बहाने पड़ते जय श्री राम रोई खून के आंसू बहाए उसने रात्रि के 12 बजे का समय हुआ होगा अपने को पत्थर बांध के धड़ाक धूम करके देह का अंत ला दूं क्योंकि अगर ये मैंने आठ दिन पंद्रह दिन में अगर ये कीका आ गया बाहर तो मेरी क्या हालत होगी इससे मैं मर जाऊं ऐसा संकल्प करके आपघात करने को जब गई तो अनगुप्त चर रखे थे सीआईडी रखे थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया क्या करती है और गुरु जी को बुलाया गुरु जी आए बोले क्या करती है योगिनी रोई खूब बेटा क्यों रोती है दुखी आदमी को कोई बेटा या पुत्र या कोई भाव से आश्वासन देता है ना तो दबा हुआ दुख उसका बाहर आ जाता है सहानुभूति के वचन सुनकर संत का हृदय तो करुणा से भरा था गुप्तचरों को हटा दिया बोले बेटा बोल क्या हुआ कैसे बोले बाप जी मैं तो कोई पाप किया नहीं ऐसा क्या नहीं मेरे को तो बड़े बड़े राजे महाराजे मेरे शिष्य और मेरे को क्या पता क्या पाप बढ़ गया है कि हो गया है मैं तो दो बच्चों को जन्म दे आई थी मेरे को पता है बाप जी मेरे चेस्ट बेस्ट ये वो सब जो कुछ प्रक्रिया होती जो प्रोसेस होता है शरीर में वो सब मुझे पता कि अभी अठवाड़ी में हो जाए कि पांच दिन में हो जाए कि पखवाड़ी में हो लेकिन छोकरा हो जाएगा मेरे को बालक थे પણ આ થયું કેવી રીતે કે બાપજી હું मैं गई थी जरा पधरामणी में बस उस रात को मेरे को कुछ हो गया तो बोले तू कपड़ा पहरीन गई थी कि ना बाप जी जरा હું ગાર્ગીની જેમ ગઈ સાલી નાગી अंदर करुणा और बाहर डांट श्री नागी तेरे पास ही योग आया दूसरों के पास योग नहीं है नंगी तो नहीं जाएगा बोले नहीं कपड़ा पहरेगी कि हाँ पहरेगे कपड़ा के जरूर पहनना नागी तो नहीं जाएगी नहीं बोले बेटा गंगाराम वापस आ जा तो गंगाराम वापस आ गया गंगाराम तो चला गया अदृश्य था वो तो सूक्ष्म शरीर में भूत के देह में था बेचारा वो तो चला गया देखता है एकदम नेशनल हाईवे हो गया जे अर्बुदाचल तय तो यू ने अर्बुदाचल पर्वत हो गया था ना वो नेशनल हाईवे के रूप में बदल गया एकदम सब ठीक ठाक બાપજી કે पैर पकड़ने लगे बाप जी તમે મારો જન્મ સુધારે છે अरे तेरा जन्म ही नहीं हुआ है ये देह के उथल पाथल में तू मिल गई थी संयोग से मिल गई थी शरीर के यश में तू अपनी यश मान रही थी इसलिए शरीर के अपयश में अपना भय लगा था और जितना आदमी इंद्रियों में देह में अहम मम करता है उतना वो थाप खाता है बेटी अब इस योग को ज्ञान के मार्ग में ले आ तब तेरा कल्याण होगा श्री राम इसलिए कवि कहता है ईश कृपा बिन गुरु नहीं समझ इंसान को जब तक आती नहीं दिल की परेशानी तब तक दुनिया से जाती नहीं अपने आप का स्वभाव का जब तक पता नहीं चलता तब तक बेचैनी नहीं जाती बेचैनी दब जाना एक बात है बेचैनी भूल जाना दूसरी बात है बेचैनी को विस्मृति के खाई में थोड़ी क्षणों के लिए डाल देना दूसरी बात है लेकिन बेचैनी अलविदा हो जाना बात निराली तो बेचैनी अलविदा होने के लिए श्री कृष्ण का इस श्लोक को आप ठीक से समझेंगे जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है यत्न्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यह स यह सदा मुक्त एव स इसमें जब तक भीतर का रस आता नहीं तब तक इंद्रियां और मन वश होते नहीं और जब तक मन वश होता नहीं तब तक भीतर का रस आता नहीं श्री राम हम समझते हैं भीतर का रस आए तब छोड़े ऐसा नहीं है और वो बोलता भीतर वाला बोलता कि बाहर का छोड़ो तब मिलू अब क्या किया जाए थोड़ा आप सुर को थोड़ा वो सुर के तो हम सौदा बना दे होता है ना वो दलाल लोग क्या करते वो बोलता हमको डेढ़ लाख चाहिए वो बोले हम लाख से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा और लाख वाला सवा पे आवे और डेढ़ वाला थोड़ा नीचे आए सौदा हो जाता है ना ऐसे कुछ थोड़ा आप संयम करें और थोड़ा मैं उसको रिझा दू ले ऐसा होता है जय जय जैसे नाविक नाव को ले जाता और नाव नाविक को ले भागती है नाविक नाव को ले जाता और नाव नाविक को ले जाती सापेक्ष है ऐसे ही इंद्रिय और मन को थोड़ा सा अंतर्मुख करने से भीतर का सुख मिलता और भीतर का सुख मिलने से वे अंतर्मुख होते एक दूसरे के पोषक हैं इंद्रियां मन अंतर्मुख हुए तो आनंद उसको पोषेगा आनंद मिला तो वो और अंतर्मुख होंगे इसलिए पहले त्याग करना पड़ता है बाद में वही राग आता है त्याग करना मना हिम्मत करना है और फिर वैराग्य मन ऐसा रस मिल गया कि अब राग रहा नहीं त्यागी के अंदर में राग है बाहर से त्याग है लेकिन बाहर का त्याग जब उसका फलित होता है तो अंदर से वैराग्य पैदा होता है राग चला गया वस्तु रही तो कोई हरकत नहीं तुम्हारे पास क्या है एक दो चार छोटा पांच बच्चा होगा सात बच्चे होंगे और क्या होगा वशिष्ठ के पास एक सौ लड़का और मुक्त है भगवान राम का गुरु संसारी नहीं सौ बच्चों का बाप आप संसारी हाँ, कृष्ण के कितने बच्चे थे ये तो कुल पूरा परिवार विस्तार देखो आठ तो खाली मिसिस थी चिल्ड्रेन हो मच बोलते छियासी हजार तो खाली शिक्षक थे बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो एक शिक्षक दो शिक्षक सरोवर के किनारे रहकर लहरों को लहरों का मजा ले सकते हैं लेकिन सरोवर में जाकर लहरों का मजा लेना है तो थप्पड़े खानी देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती इसलिए अंदाता ईश्वर को भविष्य में पाना या सुख को भविष्य में पाना ये इच्छा छोड़ दो ईश्वर आपसे दूर है ये बेवकूफी को हटा दो और ईश्वर को आप नहीं पा सकते इस कायरता को अलविदा दे दो श्री राम आप ईश्वरी रस नहीं पा सकते ये कायर कायरता के विचारों को अलविदा दे दो ईश्वरी रस भविष्य में मिलेगा इस बेवकूफी को हटा दो और ईश्वर आपसे कहीं दूर है इस भ्रमणा को भूल जाओ जय श्री कृष्ण चार बातें बहुत जरूरी है आप जो कुछ करते हैं सुचारू रूप से करो जो कुछ काम करते हैं दर्दी की सेवा करते नर्स हैं तो नर्स की ड्यूटी उस समय बजाओ रसोई करते तो रसोई प्रेम से करो दुकान पे जाते जो कुछ करते सुचारू रूप से करो एक बात दूसरी बात करने के बाद अपने को करता मत मानो मन इंद्रियों ने और बुद्धि ने किया हम उससे अलग हरिओम तत्सत आ बधु गप सत जो करो सुचारू रूप से करो और करने के बाद अपने इंद्रियां मन और बुद्धि ने किया है सत्ता मात्र साक्षी मात्र में हूं बाकी सब स्वप्न है दो बार तीसरी बात अपना व्यक्तिगत खर्च कम करो तो तीन बातें हो गई ना सुचारू रूप से करें करने के बाद कर्ता न मानकर साक्षी भाव में आए व्यक्तिगत खर्च काम करें ये तीन बातें तो हो गई चौथी बात सत्संग और स्वाध्याय को न छोड़े श्री राम जैसे शिशु के लिए पैपान है ऐसे साधक के लिए सत्संग है किसी भी बल पर किसी भी क्या कहते हैं किसी भी मूल्य पर सत्संग का घात न करें सत्संग को जितना आप इस शरीर को स्नान कराने की आवश्यकता है रोटी खिलाने की आवश्यकता है उतना ही स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है अंतकरण को हम लोग बड़ी गलती क्या करते हैं कि कहीं भी जाना आना है तो पहले तो सत्संग और साधना में ही धड़ाका करते कटिंग कर देते हैं आरा रख देते वहां तो मानना पड़ेगा कि नश्वर व्यवहार को नश्वर जगत को आपने जितना मूल्य दिया है उतना भगवान को तुमने मूल्य नहीं दिया और जो भगवान का समय निकालकर संसार में लगाता है संसार उसको तपड़े मारता है ऐसा देखा गया है बच्चा पैदा होता है पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसमें संदेह है शादी करेगा कि नहीं करेगा उसमें संदेह है घर में रहेगा कि बाप से जुदा हो जाएगा उसमें संदेह लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा उसमें कोई संदेह नहीं मरना तो जरूर है तो फिर मजूरी कर करके क्या मरना राम में आराम पाके मरना है श्री राम इंद्रिया वश क्यों नहीं होती मन वश क्यों नहीं होता कि हमने जिन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए उन चीजों को महत्व दे रखा है जिस कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए उन कर्मों को महत्व दे रखा है जिस व्यवहार को महत्व कम देना चाहिए उसको हमने अधिक दे रखा उसलिए हमारा इंद्रिया मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाती आत्म साक्षात्कार करने में अथवा अपने हृदय में ईश्वर है उसका अनुभव करने में तीन बातें अड़चन करती है बस केवल तीन बातें पहली बात है जीने की इच्छा आप जीने की इच्छा न करेंगे तभी भी जिएंगे भैया श्री राम एक तो जीने की इच्छा दूसरा करने की इच्छा और तीसरा पाने की इच्छा ये तीन चीजें जो है इंसान को ईश्वर है तो इंसान ईश्वर है तो आत्मा परमात्मा नानक तुमसे बड़े नहीं थे कृष्ण तुमसे बड़े नहीं थे कबीर तुमसे बड़े नहीं थे लीलासा साईं तुमसे बड़े नहीं थे और तुम उनसे छोटे नहीं हो लेकिन छोटे तुम रह गए और वे बड़े हो गए कारण एक ही है इन तीन चीजों को वे लोग समझ गए और अपन लोग नहीं समझते जीने की इच्छा शरीर में ममता जीने की इच्छा दूसरा करने की इच्छा तीसरा पाने की इच्छा ये जो तीन इच्छाएं हैं जीने की इच्छा करने की इच्छा और पाने की इच्छा इसी से आदमी अपने केंद्र से बाहर आ जाता है श्री राम अगर ये तीन इच्छाएं जितने अंश में कम होगी उतने अंश में आदमी महान हो जाएगा और अगर ये इच्छाएं तीनों भीतर से चली गई तो आदमी आदमी के रूप में तो देखेगा लेकिन उसके द्वारा परमात्मा अटखेलियां करेगा बाहर से तो कार कार दिखेगी लेकिन अंदर इंजन बदल जाएगा ऐसे वो आदमी तो आदमी देखेगा व्यक्ति तो व्यक्ति देखेगा लेकिन अंदर जीव की जगह पर ईश्वर अटकेलियां करेगा नानक जब घर छोड़कर गए साधन भजन करके आत्मज्ञान पाकर आए तो उसका बाप बोलता था कि इसको तो मैं जानता हूं ये तो मुझे पुट कालू है श्री राम नहीं मॉडल कालू कहता था ये तो नानक है मॉडल नानक का है लेकिन अब वो नानक को नानक मत समझो गुरु नानक समझो तो कल्याण होगा देवहूति ने अपने पुत्र के अंदर कपिल मुनि के अंदर भगवान के गीत सुने और उनका उपदेश सुनकर माता देवहूति गदगद हो गई आत्मराम को प्राप्त हुई उसके नेत्रों से जो जल चला वो जल की बूंदे जा पड़ी जहां जल के बिंदु पड़े वो सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुए श्री राम ये आत्म खजाना ऐसा है कि नहीं देखता है कि सामने वाला बेटा है कि बाप है पापी है कि पुण्यात्मा है पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है इतना महापापी साढ़े सात बैलगाड़ियां भर जाए इतने जने वो द्विजातियों के उतरवा लिए थे बालिया लुटारा लूटता था लोगों को जो मर जाते थे उनके जने साढ़े सात बैलगाड़ियां भर जाए उतने इकट्ठे हुए थे साधु और ब्राह्मणों को भी छीन लेता था द्विजों को मार देता था ऐसा वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो तुम्हारे घर का कोई कुटुंबी या तुम आत्मज्ञान पालो इसमें कोई कठिनाई नहीं है भैया श्री राम एक काम करिए कि मन को इंद्रियों को श्री राम और बुद्धि को तुम सत्संग के रस से थोड़ा भर दोगे ना तो जीवन से दुख चिंता और नरक चला जाएगा और मनमानी करोगे तो जाना तो सबको है देर सबेर मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हो जाएगा और मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हुआ न तो समझो चौरासी लाख जन्म कभी घोड़ा बनेंगे कभी गधा बनेंगे कभी पेड़ बनेंगे कभी कुछ बनेंगे तो हम लोगों को चौरासी चौरासी लाख जन्म भोगना पड़ता है अब मनुष्य जन्म में एक बात संत के हम सुन नहीं सकते हैं जब घोड़ा बन गए और हिंटर लगेंगे गाली पे गाली बरसेगी तब जब गधा बनेंगे और गाली पे गाली बरसेगी तब जब खच्चर बनेंगे तब बैल बनेंगे तब श्री राम कबीर जी कहते हैं सांझ पड़ा दिन आत्मा दीना चकवी रोय चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए शाम पड़ी चिड़िया रो पड़ी कि चलो चकवा ऐसी जगह जाए कि रात ना हो क्योंकि रात को तुम अलग घोंसले में जाते मैं अलग जाती हूँ कबीर जी कहते रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात चकवा ने कहा तू शाम को बिछड़ेगी तो सुबह मिलेगी आकर लेकिन मनुष्य जन्म में जो परमात्मक ज्ञान से बिछड़ गया वो फिर चौरासी लाख योनियों में न सुबह मिल सकता है न शाम मिल सकता है न दोपहर मिल सकता है न रात मिल सकता है न प्रभात मिल सकता है न मध्य रात मिल सकता है वो फिर एक मनुष्य जन्म है जो अंदर ज्ञान की धारा बैठी है परमात्मा की उसके साथ मनुष्य मिल सकता है अगर मनुष्य जन्म गया तो सब कुछ गया रुपए पैसों की एक थप्पी कम कर दे नौकरी के एक साल कम कर दे श्री राम थाली में आई हुई दो रोटियां कम कर दे लेकिन हमारे से हे भगवान सत्संग मत छीनना सत्संग से वंचित रहना महान पापों का फल है और सत्संग से करीब आना महान पुण्यों का द्योतक है व्यक्तिगत खर्च कम मनोबल बढ़ेगा आत्मरस के तरफ जाओगे ओम ओम ओम ओम पूर्ण पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति हरिः ओ